भगवान का एक नाम है रसो वै स वैश्वानरो सभी रसों का रस भगवान है आप कितने भी स्वाद लो दुनिया के कितने भी ऊंचे से ऊंचे व्यंजन खाओ तालू में जीप लगा के ध्यान करो ऐसा रस आएगा कि सारे व्यंजन की ऐसी तैसी ऐसा भगवत रस जगेगा जीवा के द्वारा उस रसामृत में तो योगी वर्षों तक रह जाते आपको बताऊं ना तो आप दंग रह जाएंगे कभी नहीं सुना ऐसी घटना बताऊं ऐसा वो रस है अपने आप का आपके अंदर इतना सुख भरा है इतना रस भरा है इतनी सुगंध भरी है इतना दृश्य भरा है कि दुनिया का खेल कुछ भी नहीं पांच ही तो विषय हैं शब्द सुनने के पीछे लोग बावरे होते हैं गाने बजाने वाह वाही प्रशंसा कान का रस है शब्द नेता जहाँ तहाँ उद्घाटन करने के लिए भागे फिरते हैं सराहना के लिए अपनी सराहना के लिए तुम मनुष्य जीवन में एक बार कितना बड़ा मूल्य चुकाता है दुल्हा बनता है गरीब से गरीब भी न जाने कितना कितना चॉकलेटी चेहरा बना लेता है एक बार अपना वर बनने में सारी जिंदगी घोड़ा बनकर गाड़ी खींचने को भी कबूल कर लेता है बड़ा भारी महंगा पड़ता है जिस दिन वर राजा बनकर कुछ विशेष बनना चाहता है उस विशेष का बदला सारी जिंदगी चुकाए फिर भी पूरा नहीं होता मरते मरते बेटी का क्या होगा बेटे का क्या होगा इसका क्या होगा उसका क्या होगा मर गए तो उसकी राख को छूने वाले परिवार बोलते हम अपवित्र हो गए नहाएंगे तब शुद्ध होंगे हड्डियां अपनी घर में आ जाए तो घर अपवित्र माना जाएगा ऐसा धोखे में पड़े और इतने पवित्र भी हैं कि देवता तुम्हारा दीदार करके अपना पुण्य बढ़ा सकता है तो सामान्य मनुष्य आपका दीदार और वचन सुनकर अपना पाप ताप चिंता दुख दरिद्रता मिटा सकते आप इतने महान आत्मा हैं देखने के पीछे बाहर की फिल्मों ने रूप प्रत्याहार सिद्ध हो जाए तो ऐसे दृश्य दिखते हैं ऐसे सुंदर सुहावनी सृष्टियों में आप प्रवेश कर लेंगे बैठे बैठे कि आपको लगेगा कि यहां तो बेचारे नरक भोग रहे हैं कुछ भी नहीं है ऐसे रूप दिखेंगे इसको बोलते रूप प्रत्याहार की साधना रूप प्रत्याहार सिद्ध हो तो ऐसे अलौकिक रूपों के दीदार होंगे अलग अलौकिक सृष्टियां दिखेगी अलौकिक आनंद के आपको यहाँ का कोई पिकनिक प्लेस तो एकदम रद्दी मालूम होगा बड़े से बड़ा सुंदर सुंदरियां रद्दी मालूम होंगे कैसा भी सुंदर हो सुंदरियां हो कार्बन ही छोड़ेगा श्वास लेगा ऑक्सीजन कार्बन छोड़ेगा खाना खाएगा उसकी दुर्गंध छोड़ेगा मुंह से मरे हुए बैक्टीरिया की बदबू छोड़ेगा चाहे सुंदरा हो चाहे सुंदरी हो नाक से लींट निकालेगा आंख से कीचड़ निकालेगा मुंह से बदबू निकालेगा कान से खुरेद निकालेगा कुपो से गंदा पसीना निकालेगा और नीचे से क्या निकलता है रोज निकालते हैं उसका नाम मेरे को लेना अच्छा नहीं लगता आप समझ जाओ लेकिन आप ऐसे सुंदर सुंदरियों के पीछे भी जिंदगी खत्म हो जाती रूप प्रत्यार हो तो ऐसा सौंदर्य ऐसा सौंदर्य के महाराज उनके शरीर से दुर्गंध नहीं आए ऐसे अप्सराएं होती लेकिन अप्सराएं भी कुछ नहीं भगवान का सौंदर्य उससे भी कई गुना ऊंचा होता है भगवान के धाम में गए थे सनकादि ऋषि तो उनके चरण को छू कर जो हवा आई उसकी ऐसी सुहास कि सनकादि ऋषि ध्यान का सुख भूल गए भगवान ने अपनी जागृत कर ली आप लोगों ने नहीं की बस इतना ही है बाकी तो ब्रह्म चैतन्य तो सब में वही का वही है उतने का उतना राष्ट्रपति और एक भिख मंगा नागरिक अधिकार दोनों को एक है क्या ख्याल है मनुष्यत्व में दोनों एक है भिखारी के घर जलती हुई लाइट और राष्ट्रपति के पूजा रूम में जलती हुई लाइट वही पावर हाउस की भिखारी के बाथरूम में जल रही है और राष्ट्रपति के पूजा घर में जल रही है पावर हाउस वही का वही ऐसे ही परब्रह्म पावर हाउस वही का वही है रूप प्रत्याहार सिद्ध हो जाए तो कई ऐसे सुंदर रूप भगवत सत्ता के देखेंगे कि दंग रह जाओगे रस प्रत्याहार सिद्ध हो जाए तो ऐसे रस आते ऐसे रस आते कि दुनवी कोई चीजें कोई चाट कोई मज़े मन भावन कितना भी रसीले पदार्थ हो तुमको लगेगा कुछ भी नहीं हम मजूर थे बेवकूफ़ी थी कुछ भी नहीं इनमें जरा सा ज़्यादा खाओ तो बीमार हो जाओ हैं जरा सा नमकीन ज़्यादा खाओ तो गुमड़े मसूड़े होने लगते हैं खील होने लगते जो ज़्यादा नमकीन खाते हैं मीठा और नमकीन तो उनके चेहरे पे ऐसे बदे बदे बदे बदे बैठे ऐसे लोग फिर उनको मैं बोलता हूँ कि कुंवार पाठा खाओ ताकि पित्त और कफ से जो गुमड़े गुमड़े हो गए चेहरा बंदरे जैसा बंदरी जैसा हो गया कुंवार पाठा पियो अच्छी तरह से सौ डेढ़ सौ ग्राम कुंवर पाठा का रस पियो तीन दिन तो सारा कफ और पित्त निकल जाए तो चेहरे पे जो खील खील दिख रहे हैं घुमड़े घुमड़े दिख रहे हैं गायब हो जाते लेकिन कुमार पाठा से ठीक हो गए फिर भी कार्बन तो छोड़ेगा क्या ख्याल है और चने की दाल खाई तो क्या छोड़ेगा फटाके आप समझ जाओ नारायण <laughs> ये बातें तो जल्दी समझ में आती है चने की दाल खाने से कौन से फटाके छूटते हैं क्या गंध होती उनमें ऐसे रूप के नहीं कोई दुर्गंध नहीं ऐसे सुंदर सुंदरियां ये अप्सराएं भी फीकी हो जाती अर्जुन के सामने कितनी रुवंशी जैसे अप्सराएं भी फीकी हो गई तो शब्द भी ऐसे सुनाई पड़ेंगे आप सुरता का अभ्यास करो तो ऐसा ध्वनि सुनाई पड़ता है कि आप उसमें वर्षों तक सुखी रह सकते लवलीन रह सकते इसको बोलते शब्द तन मात्रा रूप तन मात्रा रस तन मात्रा गंध तन मात्रा स्पर्श तन मात्रा बच्चों को या फूलों को या पति पत्नी को छूने का जो मजा आता है कुछ भी नहीं है उसके पीछे तो सजा ही सजा है लेकिन वो स्पर्श तन मात्रा ऐसी होती कि कुछ भी नहीं वो सब खजाना आपके अंदर भरा है लेकिन एक्सरे करोगे तो नहीं दिखेगा माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा आप फेफड़ों का हृदय का पुर्जा पुर्जा अलग कर दो एक्सरे करो माइक्रोस्कोप से देखो फिर भी ये नहीं दिखेगा कि आपके मन में किस किस के लिए प्यार था किस किस के लिए भक्ति थी किस किस के लिए नफरत थी क्या ये यंत्र बता सकते क्या नहीं बता सकते फिर भी है ना प्यार भी है भक्ति भी है नफरत भी है भय भी है सब रहता है दिखता नहीं है लेकिन है व्यवहार में अनुभव करते हो ना नफरत भी है भक्ति भी है डर भी है चिंता भी है क्रोध भी है लोभ भी है मोह भी है काम भी है और इनसे पार होने का सद्भाव भी है तभी तो आके सत्संग में बैठ दे इन दूषणों से परे होने का सद्भाव भी तो छुपा है अब ऑपरेशन करके देखे तो सद्भाव दिखेगा थोड़ी माइक्रोस्कोप से दिखेगा कि आपके अंदर सद्भाव है तो ये जरूरी नहीं है कि वैज्ञानिक साधनों की पकड़ में आ जाए उतना ही कुछ है उसमें इतना अथा सब कुछ है इतना माधुर्य इतनी सुगंध इतने रूप इतने रस जैसे सिम कार्ड को चीरो फाड़ो तो कुछ नहीं देखेगा लेकिन जरा सा सिम कार्ड न जाने कहाँ कहाँ रिंग बजवाता क्या क्या करवा देता है उससे भी कई गुना सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम सत्ता है उस सत्ता का साक्षात्कार करने के लिए बुद्धि को सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम बनाते हैं तब उसमें बुद्धि प्रतिष्ठित होती है मोटी बुद्धि का काम नहीं है इसलिए पुण्य दान स्नान जाप संयम किए हुए व्यक्ति गुरु के द्वारा आते फिर उनकी बुद्धि सूक्ष्म होती है सूक्ष्मतर होती है बाद में जब सूक्ष्मतम होती है तो गुरु जी का एक ही धक्का पार कर देता